कहाँ से आए हैं और कब से ये काम कर रहे हैं और आपका नाम क्या है मैं राजस्थान से आया हूँ मुझे छह साल हो गए यहाँ काम करते हुए और अच्छा ये आपको जॉब कैसे मिला था ये सिक्योरिटी पूछा था किसी ने किसी ने बताया था कि वहाँ सिक्योरिटी की जगह है खाली वहाँ जाके बात कर लो तो हम जाके बात किए वहाँ पे तो हमारा सर्टिफिकेट जमा किया था और राशन कार्ड की फोटो कापी और इलेक्शन कार्ड की फोटो कापी तो फिर ऐसे में जॉब मिला था तो ये आप अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हैं अच्छा अच्छा अच्छा जैसे आपके अंडर में भी कुछ लोग काम करते हैं कि आप कि आपके ऊपर कोई बॉसेज हैं हमारे यहाँ बॉस है ना हमारा mister mister K V Java है हमारा बॉस है डायरेक्टर हमारा अच्छा। उन्हीं की सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं क्या नाम है आपकी सिक्योरिटी कंपनी का Java management service Java management service private limited तो इनका क्या ये मतलब ये पर्सनल सवाल है व्यक्तिगत ये जो देते हैं आपको ये आप उपयुक्त रहता है आपके लिए जो ए, मतलब आप संतुष्ट हो जाते हैं संतुष्ट कहाँ होते हैं टाइम पास करने वाली बात अब छोड़े तो फिर जाए कहाँ बेरोजगार आदमी अच्छा हमें तो बहुत बुरा लगता है कि इतने में गुजारा नहीं होता अच्छा तो सेटिस्फाइड नहीं है अच्छा तो आप कुछ आगे करना चाहते हैं तो आगे करें तो क्या करें किसी के पास जाए तो कोई सुनता नहीं हमारी हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं जो किसके पास जाए किसी को कहते हैं तो बोले ठीक है देखेंगे देखेंगे अब गुजारा होना बड़ा मुश्किल है महंगाई के हिसाब से क्या अच्छा जो आर्मी वाले आते हैं सिक्योरिटी गार्ड तो आप लोग की आप अच्छा उन लोग ज्यादा पे होता है हाँ उनका आर्मी वालों का ज्यादा होता है क्योंकि वो एक्स वो होते हैं ना एक्सपीरियंस हाँ, वाले होते हैं एक्स सर्विसमैन होते हैं वो लोग तो उनको ज्यादा होता है थोड़ा अच्छा आपके परिवार में कौन कौन है परिवार मेरी वाइफ है बच्चा है मेरे साथ में भाई रहते हैं आप दिल्ली में रहते हो हाँ दिल्ली में रहते हैं अच्छा सवाल आप दिल्ली में रहते हो हाँ दिल्ली में रहते हैं तो आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं उनके बारे में क्या सोच रखा है बच्चे के बारे में ये कि थोड़ा पढ़ लिख जाए कुछ थोड़ा तो अच्छा इंसान बन जाए जैसे हमारी तरह ना जीना पड़े उनको जैसे हम जी रहे हैं कठिनाई में परेशानी में कैसे कैसे मुश्किल उठानी पड़ रही है मतलब सिक्योरिटी गार्ड आप नहीं मतलब उनको अच्छा बनाना चाहते हैं बढ़िया ठीक है अच्छा ये बताइए जैसे आपकी आपकी वाइफ जो है वो आपके कभी आपको रात में रुकना पड़ता होगा कभी दिन में रुकना पड़ता होगा तो उनको भी तो बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती है दिक्कत तो झेलनी पड़ती है क्या करें एक ड्यूटी ऐसी है अगर नहीं आएंगे तो पैसे कट जाएंगे डेली वीज का हिसाब है तो मान लो आएंगे तो पैसे मिलेंगे नहीं तो नहीं मिलेंगे तो इसलिए अब परेशानी तो सबको झेलनी पड़ेगी क्या करें और मौसम कितना परेशान करता है परेशान मौसम तो इस टाइम गर्मी का बहुत परेशान कर रहा है अब देखो पंखा भी नहीं है यहाँ पे रूम में लगा हुआ है छह महीने हो गए उसको बोलने का ठीक करने के लिए अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा है परेशान और ये यहाँ पे आने वाले लोग कितना परेशान कर देते हैं आने वाले तो कोई आदमी कहते हैं कि सर रजिस्टर कोई आता है तो एंट्री कर दीजिए सर तो कोई समझदार आदमी है तो कर भी देता है बहुत से कहते हैं एंट्री करने से क्या होता है क्या नहीं होता है तो उनसे भी हमें डांट सुननी पड़ती है भाई क्या करो चलो चुप हो जाते हैं मतलब एंट्री करने में लोगों को दिक्कत होती है लोगों को दिक्कत होती है कई बुरा मानते हैं बोले नहीं हम नहीं करेंगे जा रहे हैं हम लोग आई एम सी आई एम सी छोटो ये ऑन ही है कट नहीं किया जाके कोई सवाल पूछ रहा हो ना विराट सवाल नाम क्या है और आप कहाँ से आए मेरा नाम है श्रवण कुमार मैं बिहार से आया हूँ तो आपको क्या लगता है कि बिहार का जो रहने सहने का तौर तरीका और सारा कुछ और यहाँ डेली में आके और यहाँ ये ड्यूटी वॉचमैन वाला तो आपको कैसा फील होता है हमें तो अच्छा फील नहीं होता मगर मजबूरी का नाम वही है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी तो आप यहाँ कैसे आए पहले से मेरा छोटा भाई रहता था उसके थ्रू आए कहीं कोई काम मतलब टेक्निकल काम नहीं मिला इसलिए इस लाइन में घुसना पड़ा हमें तो आप इस काम से सेटिस्फाइड हो लगता है कि मेरा जो मैं काम कर रहा हूँ उससे मेरे बच्चे और घर के फैमिली सारे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जी बिल्कुल नहीं इससे सेटिस्फाइड तो आप इससे आगे कुछ करना चाहते हो सोचते हो कि मैं कुछ और करूँ कि जिससे मेरे फैमिली मैं ठीक से रहूँ अच्छे से हाँ बिल्कुल मैं सोचता हूँ तो, तो, उसके लिए आप क्या करते हो उसके लिए मैं कुछ क्या बताऊँ अभी अभी तो बच्चे हैं मैं दूसरा काम भी नहीं कर सकता हूँ इतना पैसा में गुजारा करना ही हमें किसी तरह तो मतलब काम चलाना ही है इसलिए दूसरा काम नहीं कर पा रहा हूँ तो आपकी फैमिली में और कौन कौन ये जॉब करते थे जिसके थ्रू आप मेरा छोटा भाई था वो कोई टेक्निकल काम करता था वो उसने यहाँ पर लेकर आया मेरे को वो दिल्ली में ही काम करते थे हाँ जी दिल्ली में ही काम करते थे मायापुरी में हाँ। ये बताइए जी ये मौसम इतना खराब हो जाता है कभी भयंकर सर्दी कभी भयंकर गर्मी दिल्ली का तो यही आलम रहता है मौसम का कुछ पता नहीं कब क्या कर, कर बैठे तो उस समय आप कैसे झेलते क्या करें मतलब किसी तरफ टाइम पास कभी सोते हैं कभी जगते हैं कभी नींद आता है कभी नहीं आता है पंखे में गुजारा करते हैं किसी तरह अच्छा ये ये बताइए जी ये आते हैं लोग आपके संस्कृत भवन में घूमने के लिए तो एंट्री करने में कितने लोग अच्छे से करते हैं कितने लोग परेशान करते हैं उसमें भी ट्वेंटी फाइव परसेंट लोग मतलब इधर उधर करते हैं और सेवेंटी फाइव परसेंट सही से करते हैं हाँ आपको यहाँ क्या क्या सुविधा मिला हुआ है और क्या लगता है कि मुझे और मिलना चाहिए हमें तो यहाँ सुविधा ड्यूटी में सही सुबह चाय नाश्ता हो जाते हैं लंच भी मिल जाते हैं और पैसे तो कम ही हैं लेकिन उसी में गुजारा कर रहे हैं पैसे की आप और उम्मीद रखते हो कि कुछ और मिलना चाहिए हाँ मिलना चाहिए ऐसा तो होना चाहिए तो आपने अपनी ये बात अपने बॉस लोगों को बताई कही की हाँ, बताया हूँ बताया हूँ तो उन लोगों ने क्या बोला कि अगले महीने से देखता हूँ जो भी सरकार का रेट बढ़ा है उसमें देखना क्या हुआ क्या नहीं तो बॉस लोगों का रवैया कैसा है आप लोग के प्रति यहाँ का तो बॉस का तो क्या बताया नहीं जब मतलब हमारा बॉस जो सिक्योरिटी का बॉस है वो सही है वो सही है बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके तो आप डेली में पूरे पूरे फैमिली के साथ रहते हो मैं फैमिली गांव में है मैं अकेला यहाँ पर हूँ गाँव का नाम गाँव का नाम मेरा रानीपुर डिस्ट्रिक्ट पटना मैं यहाँ इतना पैसा मैं यहाँ फैमिली नहीं रख सकता हूँ इसलिए मैं यहाँ पर अकेला जीवन यापन कर रहा हूँ बच्चे के लिए पैसा भेजता हूँ यहाँ से तो आपके फैमिली पैसे से संतुष्ट होते हैं संतुष्ट तो नहीं होते मगर घर में कुछ खेती बाड़ी है उससे काम चल जाते हैं थैंक यू थैंक यू आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा